स्पेशल टास्क टीम के हेड विनोद राय को पहले ही पता था कि यहाँ रुकना अब उनके लिए ठीक नहीं है सो वो किसी तरह से नैना और विक्रांत से नजरें बचाते हुए यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नैना और विक्रांत ने पहले से ही उनके ऊपर नजर गड़ा रखी थी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका मौका मिलते ही विनोद राय यहाँ से निकल लेंगे लेकिन नैना और उनके बीच शर्त लगी थी सो वो बिना शर्त पूरी किए भला यहाँ से बचकर कैसे जा सकते थे स्पेशल टास्क की टीम में कई ब्रांच के खास इन्वेस्टिगेटर्स को शामिल किया जाता है इसमें सभी एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ऐसे में इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डीएन नगर ब्रांच के छोटे इन्वेस्टिगेटर्स की टीम के आगे ये लोग बौने साबित हो जाएंगे ध्यान देने वाली बात ये थी कि जितने वक्त में स्पेशल टास्क वाले बैंक के सीरियल मर्डर केस को भी नहीं सॉल्व कर पाए उतने ही वक्त में डीएन नगर ब्रांच वालों ने बैंक का रॉबरी का केस भी सॉल्व कर दिखाया था और साथ ही लॉकर रूम के सीरियल मर्डर केस के मुजरिम को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था सच में ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे अब तक तो हेडक्वार्टर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि डीएन नगर ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स ने ही सीरियल मर्डर केस को सॉल्व किया है ऐसे में इन लोगों के पास मुंह छिपाकर भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था ये लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि विक्रांत और नैना एक साथ टीम बी के ऑफिस के गेट पर इनके सामने आकर खड़े हो गए क्या हुआ विनोद सर कहा भाग रहे हो बड़ी जल्दी अरे पार्टी नहीं दोगे क्या इतना बड़ा केस सॉल्व हुआ है बिना पार्टी के तो हम नहीं जाने देंगे विक्रांत ने विनोद को चढ़ाते हुए कहा विनोद ने गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए कहा तुम हम लोगों को बेवकूफ समझते हो क्या क्या हमें मालूम नहीं कि हमारे ऊपर एनेस्थीसिया का बोतल किसने फेंका था तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं कि किसने रोनित बनर्जी को अरेस्ट किया था <laughs> वाह चलो कम से कम इतना दिमाग तो चलता है आपका मुझे तो लगा था कि एकदम से गैताल हो विक्रांत ने जोर से हंसते हुए कहा फिर उसने चुप होकर आगे बोलना शुरू किया वैसे विनोद राय साहब आपको पता है कि आज तक मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेशर्म आदमी शायद ही कोई होगा लेकिन आज आपकी बेशर्मी देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है मेरे अंदर खुद के लिए इज्जत बढ़ गई है सच में आप तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म निकले विक्रांत विनोद राय ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा वो तुरंत के तुरंत विक्रांत से भिड़कर उसे सबक सिखाना चाहते थे चिल्लाओ मत वरना यहाँ आवाज निकालने के भी काबिल नहीं बचोगे विक्रांत ने भी उन्हीं के लहजे में गरजते हुए जवाब दिया सबसे पहले रोनित बनर्जी के बारे में किसे पता लगाया था उसे अरेस्ट करने के लिए गैरेज के पास पहले कौन पहुंचा था रोनित बनर्जी ने गोली किस पर चलाई थी हाँ याद है ये सब कि अकल के साथ ही यादाश्त भी बेच खाई है आप लोगों ने जल्दी करो इसकी हथकड़ी बदल दो विक्रांत ने विनोद की नकल करते हुए बोलना शुरू कर दिया जल्दी करो वरना डी नगर के इन्वेस्टिगेटर्स की टीम यहाँ पहुंची रही होगी सबको यही बोलना कि रोनित बनर्जी को हमने ही अरेस्ट किया है ऐसे काम करते हैं स्पेशल टास्क वाले छी छी तेरी तो विनोद का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था उसके साथ ही यहाँ पर खड़े स्पेशल टास्क के अन्य लोग भी शर्म के मारे अपनी नजर छुपाते फिर रहे थे विनोद जी एक मिनट नैना ने बीच में ही बोलते हुए कहा आपके और विक्रांत के बीच क्या हुआ और क्या नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आपने मुझसे शर्त लगाया था जो कि अब आप हार चुके हैं अब आप आराम से शर्त पूरी कीजिए और यहाँ से जाइए ओह ये क्या अब ये लोग अपनी बात से भी पीछे हट रहे हैं क्या विक्रांत ने चौंकते हुए कहा दरअसल अभी भी वो स्पेशल टास्क की टीम का मजाक ही बना रहा था अच्छा पहले कौन शर्त लगाने के लिए उछल रहा था शर्त को और इंटरेस्टिंग बनाया गया था ना <laughs> अब इंटरेस्टिंग शर्त को फटाफट पूरा भी करो वैसे नैना मेरी एक सजेशन है ये विनोद के गाल पर थप्पड़ यहाँ सबके सामने मत मारो सीनियर है ना ये बेचारा जूनियर के सामने बेजती हो जाएगी <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए कहा उसके साथ ही डीएन नगर के इन्वेस्टिगेटर्स की टीम भी जोर से हंस पड़ी वहीं स्पेशल टास्क टीम वालों का मुंह बिगड़ गया था खुद विनोद राय भी गुस्से का घूंट पीकर रह गए तेरी तो विक्रांत विनोद ने अपना दांत पीसते हुए कहा क्या क्या मेरी तो क्या आगे बोलो विक्रांत भी जोश में अपनी बाहें समेटता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा मानो वो अभी के अभी विनोद राय से भिड़ बैठेगा विक्रांत रुको नैना ने विक्रांत को पीछे खींचते हुए कहा फिर उसने आगे जाकर विनोद से कहा देखो मेरा तुम लोगों को यहाँ पर रोकने का ये मकसद नहीं था कि तुम्हारी बेजती करूं मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती थी कि कभी किसी को छोटा मत समझो और आई होप अब तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी इतना कहते ही नैना टीम ए के ऑफिस की तरफ मुड़ गई और साथ ही बाकी के इन्वेस्टिगेटर्स को भी अपने पीछे आने का इशारा कर दिया अब भविष्य में कभी हमसे भिड़ने की कोशिश मत करना विक्रांत ने भी जाते जाते विनोद को समझा दिया और हाँ कभी भूल से किसी के साथ शर्त मत लगाना खास तौर पर डीएन नगर पुलिस ब्रांच के किसी आदमी से हम्म विनोद ने गुस्से से विक्रांत को घूरते हुए मन ही मन कहा विक्रांत और नैना तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा छोड़ूंगा नहीं इसके बाद डीएन नगर ब्रांच के सभी इन्वेस्टिगेटर्स टीम ए के ऑफिस में इकट्ठा हो गए इस वक्त ये लोग बिल्कुल फ्री थे केस से जुड़ा सारा काम सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी इतना बड़ा केस इन लोगों ने सॉल्व किया था कि हर जगह से इन्हें बधाई मिल रही थी हेडक्वार्टर से लेकर दूसरे जिलों की पुलिस ब्रांच तक डीएन नगर की इन्वेस्टिगेशन टीम का नाम पहुंच चुका था इस वक्त सभी इन्वेस्टिगेटर्स बहुत खुश थे अब जश्न मनाने के मूड में थे इतने दिनों के बाद इन लोगों को थोड़ा फ्री टाइम मिला है तो फिर थोड़ा जश्न मनाना तो बनता ही है ये तो मौका ही सेलिब्रेशन का है तो आज की पार्टी थी टीम लीडर नैना की तरफ से सॉरी सॉरी टीम लीडर नहीं बल्कि कैप्टन नैना ग्रेवाल की तरफ से नैना का प्रमोशन हो चुका है अब वो लीडर से प्रमोट होकर कैप्टन बन चुकी थी सो आज की पार्टी की जिम्मेदारी उसने खुद ही अपने ऊपर ले ली थी उसने टीम ए और टीम बी के सभी इन्वेस्टिगेटर्स को आज शाम के डिनर के लिए इनवाइट कर दिया था उसने सबसे कहा था कि आज की पार्टी बहुत ही शानदार होगी जब नैना ने ये शब्द कहे थे तब तो किसी ने इसे इतना सीरियसली नहीं लिया था सबको लग रहा था कि नैना ने ऐसे ही कैजुअली ये शब्द कहा था लेकिन जब वो सबको लेकर रेस्टोरेंट में पहुंची तो सभी दंग रह गए अब उन्हें शानदार शब्द का असली मतलब समझ में आ रहा था ये कोई मामूली होटल नहीं था ये मुंबई के सबसे महंगे होटल में से एक था मजे की बात यह थी कि ये किसी फॉरेनर बिजनेसमैन का होटल था इसका नाम भी डच लैंग्वेज में था ये होटल जर्मनी के किसी बिजनेसमैन का था सो उसने इस होटल में सभी स्टाफ भी यूरोपीय देशों के ही रख रखे थे होटल की चकाचौंध देखकर सभी इन्वेस्टिगेटर्स दंग रह गए विक्रांत ने भी आज तक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा था ऐसा रेस्टोरेंट तो सिर्फ टीवी और फिल्मों में ही दिखने को मिलता था रेस्टोरेंट के भीतर पहुंचने के बाद सभी इन्वेस्टिगेटर्स इधर उधर नजरें फेरते हुए एक एक चीज को देखे जा रहे थे एक एक चीज को ऐसे देख रहे थे मानो धरती पर एलियंस घूम रहे हों रेस्टोरेंट में एक से एक वीआईपी बैठे हुए थे कुछ तो सेलिब्रिटी भी यहाँ पर बैठे डिनर कर रहे थे किसी भी इन्वेस्टिगेटर को यकीन भी नहीं हो रहा था कि एक दिन उन्हें ऐसे होटल में कदम रखने का भी मौका मिलेगा विक्रांत की भी आंखें फटी की फटी रह गई वो हैरान होकर सोच में पड़ गया था वो तो बस यहाँ के खाने के दाम के बारे में अनुमान लगाने लग गया रेस्टोरेंट के भीतर पहुंचते ही विक्रांत को याद आया कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका है जब मिस्टर मलिक और चोपड़ा साहब ने उसे 80 लाख रुपए का चेक सौंपा था तब वो इसी रेस्टोरेंट में मिले थे लेकिन तब विक्रांत ने यहाँ कुछ खाया नहीं था लेकिन जहां तक विक्रांत का अनुमान था इस होटल में एक आदमी के खाने का खर्चा कम से कम पांच से छह हजार रूपए होगा समझ नहीं आ रहा कि आखिर नैना के पास इतना पैसा आता कहाँ से एक पुलिस की नौकरी की तनख्वाह वाला आदमी तो यहाँ पानी भी पीने की हिम्मत ना करे नैना सबसे आगे आगे चल रही थी वो सीधे स्टेयर से चढ़ते हुए रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर पहुंच गई उसके पीछे पीछे सभी इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां पहुंच गए वहां पर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था उस टेबल के पीछे ग्लास की फूल विंडो लगी हुई थी जिसमें से रेस्टोरेंट के बाहर का नजारा साफ दिख रहा था बाहर रोड पर दौड़ रही गाड़ियों की लाइट और काफी दूरी पर दिख रहा समंदर काफी खूबसूरत नजर आ रहा था इस हॉल का इंटीरियर रस्टिक कलर थीम पर हो रखा था फ्लोरिंग वुडन की बनी हुई थी और टेबल के बीचों बीच एक बड़ा सा स्टैंड लैंप रखा हुआ था वहाँ डाइनिंग टेबल के पास फुल ड्रेस पहने हुए सात वेटर खड़े थे ये सभी के सभी फॉरेनर थे इन सब के वहाँ पहुँचते इन लोगों ने सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग कहा गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग मैम विश किया इसके बाद डाइनिंग टेबल के पास लगी चेयर को पीछे खींचते हुए सभी को आराम से बैठने का इशारा किया इतनी रॉयल डिनर पार्टी शायद ही आज तक इन लोगों को कभी मिली रही होगी ये सब लोग यहाँ चेयर पर बैठ गए सभी के सामने एक एक वेटर खड़ा था लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ ऑर्डर कर सके क्योंकि यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि कौन कौन सी डिश खाने में मिल सकती है वहीं तभी एक यंग मैन ब्लैक कलर का सूट पहने हुए पहुंचा वो नैना के पास आकर बात करने लगा ये आदमी होटल का मैनेजर लग रहा था नैना उससे कुछ सेकंड तक बात करती रही इसी बीच वो हंस भी रही थी ऐसा लग रहा था कि नैना उसे पहले से जानती थी उस आदमी के जाने के तकरीबन दो तीन मिनट बाद ही यहाँ मौजूद वेटर एक के बाद एक डिश लाकर टेबल पर सर्व करने लग गए कुछ ही सेकंड में डाइनिंग टेबल खाने के सामान से भर उठा यहाँ पर इंडियन चाइनीज इटालियन हर तरह की डिश रखी हुई थी सारी डिश सर्व तो हो चुकी थी लेकिन यहाँ किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि खाना कैसे शुरू किया जाए सो नैना ने पहले शुरुआत करते हुए सभी को सिखाने की कोशिश शुरू की नैना को देख देख कर सभी ने अपनी अपनी प्लेट में खाना लेकर शुरू किया नैना मैडम इतनी रॉयल्टी वाली फीलिंग सुनिधि सह नहीं पा रही थी तो उसने बीच में ही नैना से पूछ लिया बहुत महंगा रेस्टोरेंट लग रहा है ये सब तो कितना खर्चा हुआ होगा आपका हे नैना ने हंसते हुए जवाब दिया खर्चे की चिंता मत करो बस आज तुम लोगों को जो खाना है जितना खाना है उतना खाओ इसके बाद नैना ने वहां पर खड़े वेटर को इशारा करके अपने पास बुलाया yes ma'am please open two bottle of Remy Martin two thousand four thank you क्या विक्रांत के कान में जैसे ही ये आवाज गई उसने अपने बगल में बैठे राघव के कान में फुसफुसाते हुए कहा ये नैना मैडम ने अभी रेमी मार्टिन ऑर्डर किया है राघव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ यार वही तो मैं भी सोच रहा था भाई आज का दिन तो कभी नहीं भूलेगा